नमो उवजायाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चणमुक्का इस कोठी दैवगण कोटी देवगण विश्वहिता tesoro सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पद नंबर एक सौ इठ्योतेर शो शोधू क्या सा पड़ से સાંપડશે કોઈ તે ક્યાં મળશે હું જંખો છું તે ક્યાં મળશે કોઈ કહો સલુણા સજનિયા સાંપડશે હું શોધું છું ક્યાં સાંપડશે કોઈ કહો સલુણા સજની तेन मुखमाथि फूलडा झरता जेना ચારિત્ર સુવાસ ભરે જેની સો શબ્દે શાસ્ત્ર બને જેની એક નજરથી મોક્ષ મળે જેની એક નજરથી મોક્ષ મળે જેની સન્મુખ લબ્ધિ son સાજનિયા કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા આવા પ્રગટ પુરુષ મને દાદા મળ્યા આવા પ્રગટ પુરુષ મને દાદા મળ્યા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન કાશીમાં જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના કાશીમાં જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जय पुकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान नासिम जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा असीम जय जयकार हो हाँ? आज हिंदी है आप हिंदी में बोलना चाहिए था आप हिंदी है अच्छा ए, ए, ए, गलती मत करो हिंदी का दिन में गलती मत करना अच्छा सुनीता जी आए नाता आए बेंगलोर से आया पदम सिंह ने भेजे अच्छा राकेश जी ने उसको अच्छा ठीक है चलो अच्छा आज हिंदी का सत्संग सही होगा हम्म हम्म महात्माओ दादा भगवान ने ये जो आप तो पुत्र तैयार किए हैं तो उनकी कुछ मंशा होगी कि नहीं वो मंशा क्या है करने की मंशा थी उनकी कल्याण करने की थी नहीं ये लोग उत्कृष्ट निमित्त बनने वाले हैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट निमित्त बनने वाले हैं करने वाले नहीं करने वाले नहीं ये सबसे बड़ा और जो वडीलों महात्माओं बहनों भाइयों सभी अरस परस जो करते हैं सत्संग इसमें यही भाव है और कुछ नहीं है हम्म? भावना है भावना नहीं तो परिणाम नहीं <clears throat> भावना एक क्रिया नहीं है लेकिन वो तो बहुत बड़ा उसका विस्तार है सत्संग के लिए तो आज एक कलयुग में ये भावना शब्द और भाव शब्द भी एक कलयुग में जो भगवान ने जो अर्थ में बताया है स्यादवाद वाणी से इस ढंग से समझना है द्रव्य की अपेक्षा से और स्वभाव की स्वभावता से दोनों तरफ से भाव को समझना है हुँ? हम्म? भाव बिना द्रव्य तो होता नहीं कभी सिवाय सिद्ध लोग सीधी बात है सब लोग समझ सकते हैं तो ये बात है तो अजीब बोलो दादाजी ने बताया था दादा भगवान ने कि हम तो सभी जगह पहुंच नहीं पाते तो, तो ये आप, बात है ये आप तो पुत्र हमारे हाथ और पैर है तो बच्चे तो और हमारे माउथ पीस बड़ी बड़ी बात है बड़ी बात है उन्होंने कोई कंडीशन रखी नहीं आपते पुत्र पर कोई नहीं रखी उन्हें के पास से ले लिया सब कुछ लेकिन उन्हें नहीं रखी अभी आप संभालो आपको क्या बोलते अरे आओ डॉक्टर साहब आ, ऊपर बैस जाओ ख- जग्या છે ખાલી अरे वाह वाह हैं? बड़ा अच्छा किया हाँ क्योंकि उनको है इस थोड़ी वो वो उनकी शारीरिक है ही थोड़ी ये बड़े बहुत बड़े आचार्य हैं हाँ नहीं बड़े सारे इतना मेरे ख्याल से उनकी वही अभी तो सेवेंटी फाइव हो गई होगी हम्म? हमें मिले तब तो सिक्सटी एट के थे सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट थे जब किलन अरे अ, सूरत मंदिर पर नहीं सूरत नहीं यहाँ बड़ौदा और अहमदाबाद हाँ कोबा में अच्छा हो गया कोबा आपके पिताजी की जगह पर જય સચ્ચિદાન હા બેસ બેસ વાંધો નથી હા સુ- સુંદરબેન હવે ત્યાં બેસાડજો હા એ તો બેસવા દેવી દહી છે મહાત્માઓ તો આ બધા એમને સમજણ પડી ગઈ છે કે બહુ ફેલાવા જેવું નથી माफ करना आज हिंदी भाषी भाइयों एक, एक गड़बड़ हो गई हमें गुजराती भूमि पर है ही ना इसीलिए लेकिन हमें क्या बताया कि आपता पुत्र का स्वभाव ऐसा हो गया है वो समझ गए हैं कि जागा ज़्यादा रोकने की ज़रूर नहीं है शरीर जो रोकता है तो है लेकिन शरीर को भी ऐसा रखे तो थोड़ी जगह मिले तो उसमें बैठ जाओ ऐसा संकोच होते जाते हैं संकोच और ये ज्ञान ये विज्ञान हमें हमेरी वृत्तियों के बारे में हमें हमेरी संकोचन वृत्ति रहे हुँ? हम्म, विस्तार वृत्ति से अलग हो जावे तभी वो चैतन्य स्वभाव है अपना खुद का जो आज प्रकट हुआ है सबके स्वाद में आया अनुभव में आया है वो चैतन्य स्वभाव स्वरूप हमें अनुभव बना रहे आराम से और अपना आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप અખંડ સ્વરૂપ से રહે અખંડ સ્વરૂપ પધારો સાહેબ પધારો અખંડ સ્વરૂપ से હા હા ત્યાંથી જ આવે વેરી ગુડ વેરી ગુડ ના મને કહ્યું બધું વાત કરી સારી છે हाँ ऐसी बात है ये सब तो आज एक पद हो जाए पीछे सत्संग ले साहब हिंदी वाला हिंदी वाला हाँ हिंदी में तो हिंदी के समय में तो हिंदी की पुस्तक रखनी पड़ेगी आपको हाँ और आप सब महात्मा लोगों को उसको एक्वायर कर लेने की होगी उसको एक्विजिशन नहीं बोलते हैं जो मोक्ष के लिए है वो एक्विजिशन नहीं बोला जाता वो मुक्ति वाला वो निपटारा वाला मार्ग है हंसते क्यों हम मेरे पर वह <laughs> मत बोलना पड़ता है ना एक्वायर कर लो <laughs> खुद की चीज़ें तो एक्वायर कर ली हैं उसको क्या बोलते हैं उपादेय हम्म उपादेय हाँ? जो हमारे मोक्ष के जो साधन है ना वो सब उपाधि है हम्म? आज्ञाधर्म क्या है वो तो अंतिम साधन है मोक्ष देने वाला और अभी मोक्ष का अनुभव में हमें सही ढंग से रख सके ऐसा है उपाधेय ना त्या जगह है મેં કહ્યું તમને મહાત્મા ખોરી લે જ આટલી જગ્યા હોય ને તો બેસી જાય <laughs> જય સચ્ચિદાનંદ અમને જૂના જે હશે જોતા હશે કે મામાનીપુરમાં દાદા જે અમારે સિક્સટી થ્રીથી એમની જોડે બેઠા મામાનીપુરના ઘરમાં પછી જેમ સંખ્યા વધી કવિરાજ નટુકાકા આવ્યા પછી બધું વધવા મળ્યું સંખ્યા વધી અને પછી વડોદરામાં બધી વડોદરામાં આવતા ગયા ત્યારે અમારે તો જોડે જોડે હોઈએ સિક્સટી થ્રી એટલે હતા બોમ્બેમાં પરંતુ રહેવાય નહીં એટલે અહીંયા આવી જઈએ એટલે જેટલા દાડા આ રહીએ ઘરમાં મામાની પૂરમાં દાદા ઘરમાં તે એ બાકડો એમનો પલંગ આટલી જ જગ્યા તે બધા બહુ જગ્યા ના હોય ને ધીમે રહીનું અંદર એટલી જગ્યા જગ્યામાં સરકાઈ જતો હતો <laughs> મારું સમજાયું કે નહીં કદાચ કોઈ કદાચ ત્યાં આવી ગયું હોય ને તો પણ જરા થોડી વાતો ચાલે અને ના હોય ને તો દાદા હોય તો દાદાની બાજુમાં કોઈ બેસી ના શકે એટલે એ બાંકડાની નીચે અડધું પગ જતો રહે નિરાતે અડધું શરીર જગ્યા રોકે જ્યારે જોયું હશે જોયું હશે બધાએ એટલે સંકોચાય છે આ સંકોચવાની બધી સંકોચન વૃત્તિઓ છે મારે પાણી નથી જોયું તું કોને કહ્યું પણ નહીં રાખવાનું મેં કે ના પડી નહીં શું આ એક બિહારી બોલો સુંદર પદ બોલો संचयन में एक सौ छत्तीस संचयन में पेज नंबर हिंदी है हिंदी इसमें है हाँ वन थर्टी तो, सिक्स तो अच्छा है दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो अपने हृदय के किवाड़ खोलो अपने द्वार खोलो पक्ष की दीवाल तोड़ो पक्ष की दीवाल तोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो दादा दादा बोलो भगवन दादा दादा बोलो भगवान बोलो बिहारी आनंद जी कविराज उनकी यही भावना है कल्याण की और उन्होंने स्वाचखर अनुभव किया कल्याण का खुद का कल्याण का इसीलिए पद रचा गया अपने हृदय के किवाड़ किवाड़ खोलो तो आप लोग जाएंगे सब जगह ये हृदय के किवाड़ ही खोलेंगे जहाँ जाएंगे वहाँ हमेरा जितना नहीं खुला होगा वहाँ इतना नहीं पहुंचेगा वहाँ बात इतना समझ लो हाँ पीछे आपता पुत्रो महात्मा हो कोई भी हो वडिल हो कोई भी हो उसमें कोई ऐसा कोई उसको अपवाद नहीं है धर्मो पक्ष की दीवार तोड़ो तो धर्म तो दिल का होना चाहिए भले धर्म कई प्रकार से माना गया है फिर भी दिल तो होना है ना और धर्म मनुष्य पालते हैं प्राणियों नहीं पालते ऐसा नहीं मनुष्य पालते प्राणियों लेकिन प्राणियों के पास मनुष्य धर्म परवाता है ऐसा मुझे समझ में है आपको क्या लगता है बिहारी आनंद स्वामी जी आप आप तो नहीं करते आपको नहीं बोलता <laughs> लोग मनुष्य बोलता हूँ हम्म? और पश्चिम की दुनिया में बहनों को बिलाड़ियाँ बहुत बहुत वैली होती है बिलाड़ियाँ अरे रखती है बिल्ली हम्म? हमें वर्षों के आगे अमेरिका में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा तो एक केस आया सैन फ्रांसिस्को में वो हस्बैंड वाइफ का तो हस्बैंड को ड्रिंकिंग की हैबिट थी तो इसीलिए थोड़ा गर्म मगज हो जाता है ड्रिंकिंग के हैबिट से गर्म तो नहीं होता लेकिन उसका हो जाता था मगज गर्म हो जाता है आपको तो-, तो उसका तो पत्नी तो कभी उसको तो और एक दफ़े वहाँ एक पत्नी के ऊपर कुछ कुछ नहीं कर पाते हाँ नहीं तो बहुत कड़क शिक्षा है वहाँ इतना तो है वो पश्चिम देशों में तो तो उसने एक दिन दो दिन चला तीसरे दिन तो उसने पत्रिका थोड़ा एक खींचा और थोड़ा लगाया उसको तो नहीं वो सहन कर क्या है तो उसको कोर्ट में गई उसको केस दाखिल किया कि मेरा हस्बैंड ने मुझे ऐसा किया तो केस चला उसको तो उसको तीन महीने की सजा हुई पीछे कोर्ट ने बोला कभी भी ऐसा नहीं होना आपकी पत्नी के साथ व्यवहार तो मंजूर है सब मंजूर हाँ तो चला एक साल थोड़ा छः महीना बारह महीना निकला लेकिन ये तो आदत है आदत से मंजूर तो कोई नहीं हो सकता कि मजबूत मजबूर होता है <laughs> आदत की बात है वो तो तो आदत से तो हो गया तो पीछे वो जो देखा और उसको पत्नी पर गुस्सा आया तो वो तो कॉट कर उसने बाहें दे दिए हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या करे तो उसकी बिल्ली बहुत थी वो बिल्ली के बहुत प्यार करती थी उनकी पत्नी तो बिल्ली देखी एकदम तो उसकी पिस्तौल थी तो बिल्ली को पिस्तौल बिल्ली को मार दी देखो तो वो तो खुद को गोरी लगी इससे भी ज़्यादा उसको दुख हो गया और फिर से दाखिल किया केस चला केस दोनों को सुना वकीलों रखा गया सब कुछ तो पीछे जज ने सजा सुनाई कि बिल्ली उसकी कितनी दिल वाली थी तो उसका मारा तीन साल की कैद <laughs> तीन साल की कैद <laughs> तो मनुष्य तो है ना है ये मानवता के मूल्य दिखाते हैं कायदा कायदा आज अपने भारत में जो कुछ सब कुछ हो रहा है हम समझते हैं ठीक है लेकिन भारत में अभी काल बदल गया है भारत का जो उल्टा नेगेटिव काल था उसमें नेगेटिवता बहुत कर से निकल गई है और पॉजिटिवता अभी प्रेसी प्र, आ, स्प्रेड हो रही है प्रसार हो रहा है उसका उसमें एक कल्याण मार्ग में आपको बड़ी अच्छी अवकाश और अनुकूलता मिलेगी बड़ी अच्छी ढंग से जिसको जो बात करे लेकिन जहाँ तहाँ जिसको जिसको बात नहीं कर पाएंगे आप थोड़ी बात करके उसके रस पड़े तो आगे आगे बढ़ते जाते आहिस्ते आहिस्ते ऐसा कर सकते हो तूने किया ने साउथ कोरिया में अमेरिकन ने लेकिन उसको मिल गया कौन सा रेवरेंड बोलते उसको रेवरेंड अपनी रेवरन का पद कौन सा होता है बोलो हाँ बोलो नहीं पूज्य पर उसका स्टेट होता है ना फादर है उसके आगे हाँ जी हाँ बोलो तो जितने भी फादर के ऊपर कौन फादर के ऊपर बिशप है तो रेवरेंड उसके ऊपर है हाँ उनको भी बोलते हैं फादर को भी रेवरेंड बोलते हैं फादर को रेवरेंड हाँ, उनको भी रेवरेंड जितने भी ये व्रत हाँ, लिया तो रेवरेंड शब्द था हाँ रेवरेंड सबके लिए रखते हाँ, हैं ठीक है वो तो सब अपना अपना परम बोलते हैं ना जिसने भी समर्पित किया है ना पोप को तो वो सब हम्म, तो उसको मिला अड़सठ साल वाला हम्म, अच्छा। स्पेन का हुँ? हम्म, देखो ना उसने बात बस में तो बात की खुश हो गया पीछे वो थोड़ा संदेशा दिया और अपना वो वेबसाइट पर है ना उसका दादा का सारा परिचय दे दिया और उसको भावना हो गई कि मुझे जल्द से जल्द मिलना है फिर देखो उसका कब योग आता है हम लाख चाहे कि हम जाके मिले नहीं बन सकता साहब किसी से नहीं बन सकता आज यहाँ बड़ौदा में मिले तो नहीं हो सकता अब क्या सक कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं हो सकता बाजू के घर में पूल में रहे तो भी नहीं हो सकता ये संजोग विज्ञान हमें सब लोगों को समझाना है आज का विज्ञान का युग है जरूर लेकिन विज्ञान एक ही प्रश्न करके अब बताना कि भाई किसी को विज्ञान वाला हो तो उसको और धर्म वाला हो तो उसको तो धर्म को भी विज्ञान स्वरूप से समझाना धर्म विज्ञान स्वरूप नहीं होता तो धर्म में मजा आएगी कुछ किसी भी धर्म पालो चलो सबसे अच्छा सांप्रदायिक कोई भी हो धर्म हम्म? बिका बिना विज्ञान तो वो तो ठीक है लेकिन भारत का विज्ञान और सारा विश्व में ये तो है ही कि भाई गुरु शिष्य का संबंध तो सभी जगह है नहीं है वहाँ है ही नहीं ऐसा हम्म? प्रकार अलग अलग होते हैं तो इस ढंग से कल्याण होता जाता है समय बहुत अनुकूल है मेरे लिए इसीलिए बताया धर्म पक्ष के दीवार तोड़ो जो दिल से पक्ष पाड़ते हैं उसको तोड़ो दिल के पक्ष दिल में पक्ष कौन पाड़ता है मत्था हिंदी में क्या बोलेंगे उसको माथा हिंदी को क्या बोलते हैं शीर बोलो न माथा बोलो तो अच्छा रहेगा ये शीर बोलो कोई बात नहीं हाँ और ये माथा फोड़ करते हैं मन जैसी उसको हिंदी में क्या बोले माथा फोड़ को बेजा फोड़ी हाँ ये भेजा फोड़ी शब्द लगाओ आप वो बजा बजे का शब्द है बेजा फोड़ी हाँ तो बेजा फोड़ी से हमारा दिल कितना हैरान हो जाता है और सबको हम अलग अलग देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा शरीर अलग है तो कोई अलग देख सकते हैं क्या धर्म ऐसा सिखाता है सिखाता है अलग है तो क्या हो गया लेकिन संप्रदाय में तो वो अपना जो संप्रदाय उसमें सबको बनाए रखने के लिए वो सभी कायदा कानून रखते हैं वो तो होता है वो तो व्यवहार हो गया समाज हो गया लेकिन धर्म सामाजिक ढंग से नहीं लेना चाहिए इसलिए पार्लियामेंट में हाई कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट में कहाँ भी धर्म के अलाव नहीं करते वो ऐसा नहीं कि धर्म में नहीं मानते लेकिन नहीं करते बोलो हाँ और सब लोग जानते हैं आ तो इंटरनेशनल हो गया कि <laughs> किसी के मनुष्य की चलती नहीं तो भगवान उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो एक, एक केस किया कुछ ने कांजी भाई साहब ने <laughs> तो मेरे तो न्यूजीलैंड में फर्स्ट बार बच्चे लोगों ने बताया दादाजी ये देखने लायक है तो मैं तो खुश हो गया मेरे को क्या बनाया उसने और वही नाटक उसने न्यूजीलैंड में आगे कर दिया था तो न्यूजीलैंड वाले को गुजरात सब समाज को मालूम हो गया था अपना इंडियन को और आज सब इंटरनेशनल हो गया हो तो हम्म, भगवान पर छोड़ देते हैं तो भगवान क्या चीज़ है जो दिल में आया ऐसा मनुष्य के हाथ में आवे उसको उसके साथ व्यवहार करे ऐसा बात है तो धर्म पक्ष के दीवार तोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो सभी की मान्यता है किसी प्रकार की तो नाता उसके साथ जोड़ो ने हम्म? हम्म। और दादा दादा बोलो चलो દાદાની ઓળખ એ દો कि दादा महीना हम खुद पूछे ऐसा कैसा हो सकता है हम खुद तो कि बरोबर है पर खुद शब्द तो बोलते हैं ना हम खुद तो बोलते हैं ना कोई खुद नहीं बोलता ऐसा कोई ढूंढ निकालो चलो समझे इसलिए बोलते हैं हम खुद तो सभी मनुष्यों में है तो है ना एक खुद हाँ। इस्लाम में बोलते हैं खुद शब्द बहुत अगत्य का है और दादा के तो कितने अच्छे विधान है खुद को जाने वो खुदा हुँ? खुद को जाने वो खुदा हुँ? और या अल्लाह परवरदिगार खुद कविरा से निकल गया <laughs> हाँ। चलो હવે આગળ ચલાવી લો જરા. दृष्टि बिंदु के अनुसार दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधार सब ही अपनी जगह पे सब है सच्चे अपनी जगह पे सब है सच्चे उत क्रांति के नियम से चलते क्रांति के नियम से चलते रॉन्ग बिलिप ब्लंडर्स को भेदो रॉन्ग बिलिप ब्लंडर्स को भेदो कौन है खुद वो दिल से सोचो कौन है खुद वो से सोचो अंत स्थल के भीतर को खोदो अंत स्थल के भीतर को खोदो दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो जिससे कुछ भी नहीं अनजाना जिससे कुछ भी नहीं अनजाना ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा स्वपरि परिणामी सत ज्ञानात्मा जिसका नहीं निकलता फोटो जिसका नहीं निकलता फोटो दो उसको दिखा दे दादा दोस्तों उसको दिखा दे दादा दोस्तों केवल सत है सुख समझो तो केवल सत है सुख समझो तो दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो जगत के सुख दुख उदय के आधीन जगत के सुख दुख उदय के आधीन उदय पुद्गल सत्ता पर उपराधीन पुद्गल सत्ता पर उपराधीन अंतर सुख है सच्ची शांति अंतर सुख है सच्ची शांति भूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति भूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति સમાપ્તિ બિહારીયાનંદજી બૂઝ એટલે ઓલવી નાખવું બૂઝ વ્યવસ્થિત समझू अरे बड़ी अच्छी बात है चलो चलो ये है तो संस्कृत का शब्द और अर्धमागधी का बुज बुज चलो बूझ व्यवस्थित करम समाति बूझ व्यवस्थित करम समाप्ति निर्विकल्प समाधि साधु निर्विकल्प समाधि साधो ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो अपना आत्म सुख ही खोलो अपना आत्म सुख ही खोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो बोलो आखिर की चार लाइन बहुत कठिन लगती है मुझे निर्विकल्प समाधि साधो वो तो सब महाभारत का अनुभव है वो बोल नहीं पाते कि मुझे निर्विकल्प समाधि है क्यों समाधि है जो है उसको कौन बोल पाता है हुँ? जो नहीं उसके लिए है और नहीं दोनों शब्द आ जाते हैं है में तो कोई नहीं शब्द ही है ही नहीं ना है ही नहीं बिल्कुल और जो नहीं शब्द है वो केवल किस ढंग से है वो भगवान की डिक्शनरी में है किस ढंग से तो दादा भगवान के विधान बड़े अच्छा बड़ा अच्छा विधान है कि भगवान की डिक्शनरी में शब्द कोश में मैं करता हूँ आप करते हैं और वह करते हैं वो होता ही नहीं था हुँ? होता ही नहीं था इस ढंग से नहीं बोले और जगत जो नहीं समझते वो तो अलग है इसीलिए भगवान की डिक्शनरी एक जो हो गई एक हा हा हा और हा और ऐसा दूसरा अच्छा विधान है कि संसार में दिल से समझ ले हमारे मनुष्य में सभी क्रियाओं में संसार की सभी अवस्थाओं में कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें इतना दिल में रखे दादा के वचन कि हाथ से मोक्ष अर्थात मुक्ति अर्थात हमें बंधन से मुक्ति पाइए ऐसा स्वाद आना हा से मोक्ष ना से संसार इतना रखो बस और कुछ नहीं हुँ? हम्म? खाली चार शब्द क्लास सारा सब शास्त्र का अर्थ सब आ गए सभी शास्त्र का हा से मोक्ष और ना से संसार हुँ? हम्म? तो ये चार लाइन है निर्विकल्प समाधि साधो ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो कविराज ये पद जब लिखाया था तब उनको इतना वो आप आप्त सूत्र आया उसके पश्चात ये पद रचाया है तो इसमें ये पद आ गया अगर कविराज ने उसके आगे लिखा तो नमस्कार उसकी दशा बड़ी बहुत ऊंची है बहुत ऊंची है और ये दादा भगवान का आप्त सूत्र का आखिर के सूत्रों में से है एक है हम्म? ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो तो उसका दो अर्थ दो महात्माओं को महात्माओं की अपनी अपनी दशा के अनुसार अर्थ हो सकता है और वितरागो भगवंत तीर्थंकर भगवंत ने भाषा में भी अर्थ हो सकता है डॉक्टर साहब समझ में आया तो अपने महात्मा के अर्थ में कैसा ले कि हमेरा हमें ज्ञाता दृष्टा पद मिला है देखन जानन क्रिया शुद्धात्मा की है वो क्रिया स्वरूप उनका जो स्वभाव है स्वभावगत क्रिया जानने की देखने की वो मिली है वहाँ ज्ञेय को देखो ज्ञेय मंजे क्या ए एक नंबर फाइल ज्ञेय एक नंबर फाइल मैंने क्या पहला तो मन तो मन ज्ञेय हो गया तो सारी फाइल ज्ञेय हो गई शुक्र क्या बोल बताया ये तो ये तो सारा भारत का और सारा विश्व का ही प्रयत्न रहा है मन के पीछे बहुत रहा है और दादा भगवान के मन ने बाबे भारत में इतनी सूक्ष्म बाबतें रजू की है हुँ? हम्म? ये सारे बेजिक है आप तो पुत्र साहब जो बेजिक है मेरा उसके ऊपर खुद ध्यान दो आप और कल्याण मार्ग के उसका उपयोग करो राव पधारो तो उसमें सही सामान्य लोग भोग्य भाषा में जा सके लोग समझ सके इस भाषा में ऐसे में आ जाओ सभी प्रकार से समझे ना महात्मा तो बहुत चलता है हम ऊपर लेकिन आसानी से समझ में आवे ऐसा तो ज्ञाता पद में ज्ञान को तीर्थंकरों की भाषा क्या है दादा भगवान की मूर दादा भगवान का जो स्वरूप है जो हमें अनुभव करना चाहते हैं वो क्या है तो उन्होंने आखिर में बोला कि आखिर तो मैं ज्ञेय का ज्ञाता हूँ वो ज्ञाता है वो ज्ञान में ज्ञेय स्वरूप से झलकेगा तभी वो ज्ञाता पद उसमें समाविष्ट हो जाएगा और ज्ञान ज्ञान रहेगा बाकी क्या रहता है ज्ञाता पर पूरा समान हो गया तो वैसे बाकी क्या रहा ज्ञान रहा इससे उसको ही केवल ज्ञान बोलते हैं उसी को ही केवल ज्ञान बोलते हैं लेकिन आज केवल ज्ञान तो ये समझ नहीं पाते प्राप्त इस बातें नहीं कर सकते लेकिन महात्माओं की समझ में जरूर आ सकता है दृष्टि है उनके पास ये समझ अच्छी ढंग से अपने मन वचन काया और उनके सभी व्यवहारों में समझने की कोशिश करनी चाहिए अच्छी ढंग से ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो अपना आत्म सुख ही खोलो वो तो सब जानते हैं मानते भी हैं दादा दादा बोलो दादा बोलो अभी सत्संग लेंगे साहब हम्म, हम्म। પીછે મળ- મળજો થોડું બે મિનિટ સત્સંગ પછી કહું છું अच्छा अपने हम अपने पास दो चिट्ठियाँ आई है उसमें प्रथम चिट्ठी और नाता परिवार की है उसका ले लेते हैं उनका एक प्रश्न है समझ लेनी है उनको जो समझाया जाता है ज्ञान दीक्षा के पश्चात कि भाई ऐसा ऐसा भी सभी करने पड़ने से मेरा छूट गए हैं खाली समझने में आ गए लेकिन आज्ञा धर्म से जैसा जीवन जाएगा वैसा समझ पाएंगे इसीलिए निश्चय व्यवहार चरण विधि ये आप, आपके पास आवश्यक बन जाती है जहाँ क लगता है वो सब कर्तृत्व भाव सूचन करता है क वाला शब्द क वाला शब्द वो ज्ञायक बोलो वो भी कर्तृत्व स्वभाव है क्या बताया और भावक बोलो वो भी कर्तृत्व स्वभाव वाला है हाँ, हाँ। ये तो क्या बतावे ये किसी की गाड़ी पार्क अच्छी तरह नहीं की गई है G J six F K three zero double four three zero double four F A कई गाड़ी कौन सी गाड़ी है जी जे सिक्स एफ के गाड़ी किस कौन सी पता नहीं है अच्छा थ्री जीरो जो गाड़ी है तो जरा बीच में रखती है लगती है वो जरा हटा लेना पार्क हाँ? दरवाजा के आगे होगी उधर अच्छा तो ज्ञायक वो कर्तृत्व स्वभाव नहीं है धीरू भाई साहब ज्ञायक क जहाँ क लगता है वो स्वभाव की क्रिया शक्ति बताता है क्या बताया स्वभाव की क्रिया शक्ति बताता है और स्वभाव कैसा होता है दो प्रकार का हाँ एक प्रकृति स्वभाव और दूसरा पुरुष स्वभाव जी क्या और पुरुष स्वभाव प्रकृति स्वभाव का क्या क शब्द क्या सूचन करता है कि भावक हम्म। क कर्तृत्व सूचन कर भाव भावना करो बरोबर ये बात है तो ज्ञायक भावना क्या है वो तो बहुत बड़ा विस्तार वो तो बहुत बड़ा शास्त्र हो जाता हम्म। है हम्म। लेकिन भावक द्रव्य को द्रव्य नहीं बल, बल कभी नहीं बोले कोई नहीं बोल पाया शास्त्र भी नहीं है वो तो पुद्गल की भाषा में कारक शब्द समझाया गया है हम्म। वो दृष्टि प्राप्त उसका पश्चात समझाया गया है जो अमीन साहब ने समझाया है वो समझो अन्यथा पुद्गल का छह कारक होते हैं छह कारण होती है तो कर्तव्य शक्ति के बेसिक छह कारण होते हैं छ और इसीलिए सारा अपना ये विश्व हम्म। और सारा सभी षडगुणी हानि वृद्धि नियम से संचलित होता रहता है और छह कारक हमेशा है द्रव्य में है और भाव में दोनों में लेकिन उससे बहुत बड़ी अलग बात हो गई हम्म। तो आपने पूछा कि भावक ऐसा करता कैसे हो गया ज्ञायक ज्ञायक हाँ, तो भा, भावक तो भाव के हिसाब से वो शरीर के साथ है लेकिन वो उसका पक्ष पॉजिटिव या नेगेटिव उसको नक्की करना है करने वाले को अच्छा। तो कोई नेगेटिव वाले को जाना नहीं मांगता है हम्म। लेकिन जो मसाला लेके आया मसाला चलाएगा उसको उसमें उसकी भाव होती है कि मुझे किसी को मारूं मैं जो लोग मर जाए कोई मरना मर, मर, मार देना ही चाहिए फिर भी वो खुदा को बहुत मानता है हम्म। और खुदा करवाता है मुझे मानता है खुदा मानता है अल्लाह समझे ना तो उसका उसका भी भाव है ना तो किसका किसका भाव नहीं होगा उसमें तो ज़्यादा मत जाइए लेकिन समझ गए आप तो बराबर जानन क्रिया और देखन क्रिया बरोबर देखन क्रिया चीति शक्ति बोलते हैं उसको हम्म। तो स्वभाव की शुद्ध आत्मा की शक्ति है हम्म। शुद्ध मूल शक्ति है वो अगर क्रियाशील नहीं होती हम्म। तो तत्व द्रव्य होता है कभी भी नहीं होता सीधी बात हो गई बरोबर है लेकिन अपने स्वभाव में है प्रकृति का प्रकृति के स्वभाव में पुरुष का पुरुष के स्वभाव में एक कारकता है अब समझे तो आपने नाता जी ने पूछा है कि जय सच्चिदानंद दादाजी आपका सोमवार का हिंदी का सत्संग का लाभ हम सभी को मिल रहा है और गुरुवार का गुजराती सत्संग भी हम सुनकर समझने की कोशिश करते हैं कितना अच्छा है हम्म। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे मेरा सवाल है मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपकी बताई आज्ञा में ही रहूं और रोज़ प्रातः विधि चरण विधि और नौ कलमों का पठन करता हूँ मुझको यह जानना है कि क्या चरण विधि नौ कलमों को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी है क्या सिर्फ उनको पढ़ने से आज्ञा पक्की होती है और ये क्या कहाँ तक काम करती है ये प्रश्न उनका बड़ा अच्छा है क्योंकि हमें से सत्संग में सभी से जब समझाया जाता है सत्साधनों और जिसके पास दृष्टि ज्ञान प्राप्त हो तो उसको तो चरण विधि एक ही दी जाती है लेकिन हमें सत्संग में कहीं कई बार कहीं कई बार सब जगह पर बताया गया है कि आज ये काल में हमें जो शरीर सारा बनकर आया है हमेरा हमारे हिसाब से भी कर्मों का हिसाब से वो शरीर में ये चरण विधि क्यों बोलनी है कि हमें व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दो दृष्टि हमें प्राप्त हुई है वो दृष्टि पक्की हो जावे और साथ साथ में रहे क्या समांतर से रहे साथ साथ में लेकिन आज का शरीर और उसका जो मसाला है वो शरीर का मसाला रहने देने वाला नहीं है उसको क्यों कि उसके पास व्यवहार बाकी है तो व्यवहार के साथ मोक्ष प्राप्त किए मिला है सबको इसी कारण इसी कारण आज आज्ञाधर्म लाख चाहे कि बस यही आज्ञा एकदम आज्ञा तप तप लाख समझे लेकिन तब तो आज क्षण क्षण में आता है क्षण क्षण में आता है कहाँ तप को समझ आई ये बात सो तप में से पसार होना तभी इतनी समझ तब क्या चीज़ है वो समझ में आती है ऐसा नहीं आता है और पीछे भी मालूम होता है तो हमें ऊपर गौर से अंदर से हमें अवलोकन करें हमारा खुद का तो भी मालूम हो जाता है वो तो सभी को होता है बोलते ना तात्कालिक प्रतिक्रमण नहीं होते बोलते हैं ना सब और पीछे हो जाते हैं मालूम पड़ता है तो कर लेते हैं वो बस वो तो होना ही है इसीलिए तक ऐसा नहीं है तो चरण विधि तो निश्चय व्यवहार बताया निश्चय महीना शुद्धात्म दृष्टि बाय रियल व्यू पॉइंट और व्यवहार महीना द्रव्य दृष्टि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमें ये निश्चय व्यवहार चरण विधि का रोज पठन करना बताया है और पठन का उपयोग प्रयोग किस ढंग से होना रीत भी बताई गई है कि आप जो नामधारी है वो पठन करेगा उनकी चर्म चक्षु से व्यवहार दृष्टि से और जो व्यवहार दृष्टि से पठन करेगा वो पठन करता हुआ मोटे से करे तो अच्छा रहेगा तो खुद को सुन सके बाहर का बोला हुआ सुनते सुनने की अभ्यास नहीं होती वहाँ तक अंदर का एक भी आवाज़ स्पंदन भी आप नहीं सुन पाएंगे आपका खुद का भी बहुत बड़ा सिद्धांत है अनुभव पद के प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है और शब्द में और शब्द से मुक्ति पाने में बहुत बड़ा सिद्धांत है बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करते ही हम शब्द से मुक्त जरूर हो गए हैं लेकिन शब्द से मुक्ति पानी इतना आसान नहीं है तो सबका अनुभव में आवे ऐसी चीज़ है हुँ? तो उसमें से थोड़ा दिन में जो फुर्सत मिले उसमें गौर से अंदर जाके सोचना चाहिए खूब सोचना मैं बोलता हूँ क्यों कि हमने शुद्धात्मा पर पाया है और आज आत्यंतिक मोक्ष तो है ही नहीं तो बीच में का है पुण्य अनुबंधी पुण्य वाला कारण का सर्जन हो रहा है उसमें ये तो बनना ही होना है समझे ना तो कभी कभी ये अक्रम विज्ञान की भाषा हो हम ऐसी इस ढंग से ले लेते हैं तो जो हमें समझ में नहीं आए उसको नहीं लेनी चाहिए बस सोच समझ के जितनी जितने उस ढंग से करना और सामान्य लोग को तो बहुत गहरी बात जरूरी नहीं है उसको तो कोई जरूर नहीं है उसको सामान्य सुख में शांति मिले तो बहुत है उसको आनंद तो कैसा मिलेगा आनंद तो स्वरूप के पाया बिना नहीं मिलता खुलता ही नहीं हो तो ऐसी बात होती है तो ये खास समझनी है और हमारे कल्याण मार्ग में जहाँ भी जाओ कोई भी संप्रदाय में जाओ वितराग दर्शन वाला हो वैष्णव दर्शन वाला हो या शिव दर्शन वाला तीन ये मुख्य दर्शन है भारत के शिव और शिव अपने वैष्णव दर्शन में सबका आ जाता है सारा भारत पूरा आ जाता है सर्व पूरा भारत और जैन दर्शन में एक सांप्रदायिक दृष्टि के प्रकार से आ जाता है जैन समाज के प्रति ही रहता है वो और वो उसमें भी और वर्ग पड़ गए हैं ऐसा लेकिन सामान्य तौर से बात हो सकती है सभी को समझे तो ये जो राकेश जी ने प्रश्न किया है तो चरण विधि आवश्यक के है आवश्यक के करने योग्य अवश्य करने योग करने योग कैसा तो कई व्यवहार जो करने योग वाला व्यवहार है उसमें से हम करने वाले हैं वो निकल जावे इसके लिए चरण विधि है ये प्रयोग है बहुत बड़ा हमें शुद्धात्मा पद पाया जो अकर्ता स्वभाव है तो अकर्ता अपनी अपनी समस्या मत लो या आज्ञा धर्म की समस्या लेना जरूर हो गए आज्ञा धर्म है आपका दो दृष्टि है प्रमुख है आज्ञा धर्म में लेकिन आज कलयुग है व्यवहार के साथ मुख दिया है इसीलिए तीसरी चौथी तो आज्ञा देनी पड़ती है और आपकी समझ में आवे कि हमेरा ये जमा उधार वाला खाता है कि केबल जवा जमा वाला केबल जमा वाला खाता कब होता है कि उधारी सौ प्रतिशत खत्म हो जाए तभी होता है क्या बताया तो मनुष्य की उधारी कब सौ प्रतिशत खत्म हो जाएगी बंडिया साहब मुझे हंसो नहीं हाँ <laughs> किसकी है बताओ अरे प्रसिद्ध क्या थोड़ा उसे भी देख लो ने ये बात है तो ये आज्ञा धर्म ये हमेरी उधारी में से मुक्त करवाता है इसीलिए आवश्यक बताया उसको शास्त्र में आवश्यक बोलते हैं लेकिन जो जो संप्रदाय में है उसके कारण संप्रदाय में सही ढंग से सम से रह सके इसे कारण ऐसा होता है वो तो होना ही है नहीं तो छिन्न भिन्न हो जाएगा सब वो तो होना ही है सबको संप्रदाय को गलत दृष्टि नहीं बताई गलत धर्म भी नहीं बताया काल है नहीं तो सब लेकिन यहाँ सही समझ जरूर है ये बहुत ये सही समझ जो भी हो धर्म तो चरण विधि आवश्यक है राकेश जी लेकिन हमें कई बार सत्संग में हमसे कहा गया है कि आज का पुद्गल आपको ये निश्चय व्यवहार चरण यदि रोज बोल लेते हो तो वो मैकेनिकल हो जाती है आपके लिए वो उपयोग पूर्वक होनी है इसीलिए बताया इसीलिए प्रयोग उसको बताया अब हम अलग हो गए फाइल और हम मन वचन काया और उनका सारा व्यापार उनसे हम व्यक्त हो गए अलग हो गए दोनों एक है वो रेखांक रेखांकन अलग पाड़ दिया है बीच में तो सही रहे इसलिए बीच में की वो नॉर्मालिटी माने के लिए चरण विधि है ही ये सब समझ लो उसके सिवा कोई क्रिया आपको बाकी नहीं रही शरीर से मन से वाचा से काया से ये बहुत समझने बात है तो हमने तो खाली यही ढंग से समझाया था कि महात्माओं को अगर लगे कि आत्मा आज्ञा धर्म और उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है ये वगैरह वगैरह कि सबको अमुक अमुक खुद की प्रकार से आती होगी और आती रहती है मेरे ख्याल से तो नहीं आती होगी ना हाँ हाँ बोलो जिसके पास आवाज़ है उसको बोलो मोटा मोटा आवाज़ हाँ ये बात है इसीलिए ये पुद्गल बाहर का तो ठेका बिल्कुल उसका ठिकाना ही नहीं है कोई ठिकाना नहीं उसका लेकिन अंदर से आज्ञादम से ठिकाना वाला हो जावे इसके कारण ये बाहर का पुद्गल को ये अपनी च, अपनी नव कलमों और सत्साधन बुलाते रहो जो उसने बोला प्रातः विधि बोलते उन, उन फाइल के पास बोला नहीं है आपको नहीं बोलनी है ऐसा हमने बताया है हमेशा ये बात खुद दोनों की भेद रेखा समझ में देनी जरूर है और सत्साधन में पूरा ज्ञान है आज प्रातः विधि में बोलते हैं सर्व अपनी नमस्कार विधि कितनी अद्भुत है आखिर की दो लाइन कितनी अच्छी है वो दो दृष्टि रखती है आपको उसकी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो खास दादा भगवान को उसके पर बहुत जोर देते थे आखिर की नमस्कार विधि अरे बुलाओ ना बिहारी आनंद जी आखिर की आखा ब्रह्मांड के हाँ बोलो ना अच्छा देवेशानंद जी को बोलो उनको उनकी भावना है बोलो नहीं आपको बोलो साहब बोलो तो हम बोलेंगे अरे भाई साहब सारे ब्रह्मांड के जीव सारे ब्रह्मांड के जीव मात्र के पूरा वाक्य पूरा वाक्य बोल दो रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है, अतः सारे जगत को भगवत स्वरूप से दर्शन करता हूँ रियल स्वरूप ही शुद्धात्म स्वरूप है अतः सारे जगत को शुद्धात्मा स्वरूप से दर्शन करता हूँ शुद्धात्मा स्वरूप से दर्शन रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है हाँ। अतः सारे जगत को अतः सारे जगत को तत्व ज्ञान रूप में तत्व दृष्टि से तत्व दृष्टि से अतः सारे जगत को तत्व ज्ञान से तत्व दृष्टि से देखता हूँ दृष्टि से देखता हूँ आपने महात्मा लोग हम समझे ऐसा सबको दे देते हो आप तो ये सबको दवा नहीं चलेगी <laughs> बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे ढंग से देखो दृष्टि तो सब लोग समझते हैं नहीं समझे हमने दादा भगवान में सुधार कुछ नहीं किया ये तो बात है दादा भगवान बोलते आपकी समझ में आओ उसका आप करो हो गया वो दादा ही का ही हो गया सब आपको समझ में आता है सभी को ना ही है ना वो तो कहीं कहीं प्रकार से तो राकेश जी ने अपना प्रश्न अच्छा किया है तो उस दोनों कोई सत्साधन क्या है और चरण विधि क्या है दोनों अलग है चरण विधि तो जिसने ज्ञान पाया है जिसके पास दृष्टि है उसके पास उसके लिए ही है बाकी के सबके लिए सत्साधन है लेकिन आज का पुद्गल ये चरण विधि इतनी करते हैं फिर भी हमें तो बहुत आज्ञाधर्म पालन में बहुत मुश्किलियाँ आती है वगैरह वगैरह तो उसमें क्या तो कि ये बाहर का पुद्गल है ना उसको बैलेंस करने के लिए अंदर से हमें हमारी कमाई करनी पड़ेगी वो सत्साधन करवाएगा फाइल को अंदर की कमाई सत्साधन करवाएगा इसीलिए बैलेंस होते ही पीछे आज्ञाधम का पालन में सुविधा आती जाएगी आपको मेरे ख्याल से राकेश जी आपको समझ में आया होगा जय सच्चिदानंद अभी दूसरा आया है सुनीता जी जोधपुर से ये कहाँ से आया साहब ये पहला राकेश जी का बेंगलोर से आया है और ये आया जोधपुर से हम तो जोधपुर वाले ही बोलते उसको <laughs> जोधपुर वाली नहीं हो सुनीता जी हाँ हम सुनते हैं आप बोलते हैं तो हाँ हाँ हम जोधपुर वाली है बोलो ना हम सब सुन लेते हैं यहाँ से हुँ? हम्म? तो દાદા ભગવાન કે અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ जय जयकार हो ये तो गुजराती में बदन आ गए सबको आ गया और इंग्लिश वालों को भी आता है सभी तो अभी तो हे पूर्णत्वम परमेश्वर परम सत्व स्वभाव जन्मों से जिसे शब्द में ढूंढा शब्द नहीं वो है आप उसकी शुरुआत करते हैं सबको जैसा नज़र में समझ में जैसा आता है ऐसा वो कर सकते हैं शुद्ध प्रेम वात्सल्य भरा निज जिनका हस्त स्पर्श चरणों में अमृत जड़ता हृदय सत्साद सत्संधान जन्मों से जिसे शब्द में ढूंढा शब्द नहीं वो है आप सुनीता का हृदय से चरण वंदन जय सच्चिदानंद उसने तीन बातें पूछी है पहली दादाजी प्रेम अवतार ज्ञानी पुरुष के हृदय स्वभाव से उद्बद्ध उद्भव हुआ शुद्ध प्रेम तत्व का परमार्थ समझने समझाने की कृपा करें जो पल में भगवान पद से साक्षात्कार करवा देता है जरूर करवा देता है सुनाती सुनीता जी लेकिन ये ज्ञानी पुरुष का प्रेम और प्रेम अवतार उसको अवतार ढंग से जो सारा विश्व में समाज में समझा गया है अवतार वो अवतार ये प्रेमावतार है ये लिख पर पांचम काल के लिए और कलयुग के लिए दादा भगवान का और वैसे कहीं कहीं शब्दों में कहा गया है करुणा अवतार करुणा अवतार बोला गया है करुणा अवतार होता नहीं वहाँ तक वो प्रेम शुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम जहाँ संसार की एक परमाणु मॉलिक्यूल भी नहीं रहता है शरीर होते हुए भी उसको शुद्ध प्रेम बोलते हैं और यही प्रेम बीज जिसने ज्ञान जिसको ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई है वो सभी को वो प्रेम बीज ही प्रस्थापित किया जाता है वैसा तो केवल ज्ञान का बीज प्रस्थापित किया जाता है लेकिन सारा प्रेम स्वरूप वही है और प्रेम का उत्कृष्ट स्वरूप देखना हो तो तीर्थशंकर भगवान की चरम कोटि पर है वो तीर्थशंकर भगवंतों की जो हमेशा चौबीस चौबीस हुआ करते हैं दरिक अवसर पर निकाल में तीर्थंकर कोटि के चरम सीमा तो दादा भगवान वो चरम सीमा को स्पर्श करके आए लेकिन देख के आए सब कुछ तो ज्ञान में वो जानने का जगत को तो जितना जरूर है उससे तो बहुत दिया है दादा भगवान ने जगत ने तो बहुत थोड़ा जरूर है एक टीपा सरखा जरूर है उसमें बहुत कुछ दे दिया लेकिन हम उसके इस ढंग से चले जावे तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे हुँ? हम्म? जैसे बच्चे हैं के जी में है बड़े ऐसा बहुत करके जगत का स्वभाव ये रहा है उसमें से जो थोड़े विचार सोच वाले वगैरह वगैरह वो तो वर्ग ऊँचा है इतना ज़्यादा नहीं है हम्म? हमेशा अपने बिहारी आनंद जी पद में बोलते हैं बड़ी बुद्धि वाली को छोटी बुद्धि को क्या बोलते हैं बोलो ना बोलो साथ में रखो ना बोलो ना वो तो आपका तो मुख कर रहे बोलो दो लाइन कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया ऊपर से माना अच्छा किया ऊपर से माना अच्छा किया वहाँ लोभ की भीड़ गुच देखो <laughs> तो गड़बड़ हो गई <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कभी कभी ऐसी दो लाइनें बहुत आसानी से समझ दे देती है सबको क्या ये बुद्धि तत्व सारा विश्व भारत को और सारा विश्व को चलाता है भारत को चलाता है वो थोड़ी उल्टी वाली बुद्धि हो गई है क्या उल्टी वाली और धर्म कहाँ रहता है कि सुल्टी वाली बुद्धि जहाँ जितने ढंग से जितने प्रकार से जितने औषस है वहाँ वो धर्म है लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ती इसीलिए संत पुरुष सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष वो तीनों के लिए दादा ने प्रार्थना बुलाई है वो तो हमेशा रखनी चाहिए यूनिवर्सल है वो तो यूनिवर्सल है संत पुरुष सारा विश्व में होते हैं भारत में होते हैं सब कुछ भारत में सभी लोग हैं संत पुरुष के बाहर कोई नहीं सत्पुरुष तो सत पाया है उसके पश्चात सत्पुरुष है उसके पश्चात है तो वो सत्पुरुष बोले जाते हैं और सत्पुरुष वही ज्ञानी पुरुष है लेकिन वो ज्ञानी पद का सत्पुरुष पद पाया है वो पद उसने अच्छी ढंग से समझ में आ जावे इसी ढंग से वो जीवन में इसी ढंग से सत के साथ हुआ हुआ ये असत जगत है उसके साथ जीता रहता है जगत वो मैं नहीं हूँ वो सही समझ है सतस्वर समझ है और जगत मैं हूँ वो असत समझ है और जगत क्या तो कि मनुष्य है तो जगत है जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए जगत है वो मनुष्य मनुष्य नहीं है तो उसके लिए जगत कहाँ से आया इसीलिए थोड़े में जगत समझना हो तो मनुष्य का शरीर मनुष्य का शरीर और जगत क्यों शब्द आया जगत आया कहाँ से ये भारत में तो कि जो जन्म पाता है उसको जाना पड़ता है इसीलिए उसको जगत बताया मनुष्य शरीर को क्या बताया जो जन्म पाता है उसको उन, उनको जाना पड़ता है खुद से मर्जी से नहीं जाता मर्जी तो नक्की कर दी उसने लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ती उसको जाने के लिए कोई वीज़ा वीज़ा कुछ जरूर नहीं उसको बिल्कुल अलाउ फ्री <laughs> तो ज महीना जन्म पाना और गत महीना जन्म पाया तो जाना पड़ेगा गया ऐसा नहीं गत लेकिन जा रहा है जगत ये सब तो बात दादा भगवान ने नौमिन साहब तो बहुत पढ़े लिखे है <laughs> लेकिन वो आध्यात्मिक की तो उसको आखा सारा जीवन की है ना उनका अथाक प्रयत्न है अथाक प्रयत्न है वो बोलते थे मैं वो शी, शिखा शिखा बांध के मैंने सब अभ्यास बहुत किया है आप सभी का शिव धर्म वैष्णव धर्म और जैनों धर्म का सभी शास्त्र जैनों के आचार्यों से और उनके शास्त्र ज्ञानियों से उन्हें बहुत परिचय हुआ है अच्छी ढंग का बोलो तो इसलिए वो दादा को दोहराते नहीं इतने इतने हम्म? कविराज यही दोहराते हैं ना तो सुनीता जी ये प्रेम अवतार जो बोलते हैं तो अपने सबके अंदर महात्मा मात जिसको ज्ञान है और दृष्टि प्राप्त है वो सभी के अंदर उनका जीवन में वो प्रेम तत्व बगीचे में जैसी माटी लाओ कि जैसी अच्छा बगीचा बने पौधा अच्छी ढंग से आसानी से और बहुत हेल्दी ढंग से ऊपर आवे ऐसा प्रेम तत्व हमारे अंदर उभरता रहता है हर के अंदर लेकिन जैसा जैसा अनुभव शरीर से होता जाता है तो जो शरीर से कर्मकृत मेरा शरीर का जो अंदर का जो सारा कर्मकृत शरीर का भाग है अंदर से और बाहर से दोनों से वहाँ ये हमें तकलीफ पड़ती है तो वहाँ जितना अनुभव में आता है इतना तो समझ में आ जाता है इतना प्रेम खुलता है यह है और उसका प्रमाण क्या है तो कि वो खुलता है तो सबसे अच्छा प्रमाण दादा भगवान ने पति और पत्नी का बताया क्या बताया माँ बाप बच्चों का सही है लेकिन नजीक के नजीक है पति पत्नी है तो उसका प्रमाण पहला बताया कि पति में पत्नी अपना स्वरूप देखे और पत्नी में पति अपना स्वरूप देखे स्वरूप में न खुद को देखे यहाँ ये प्रेम का सारे के ये कोई भेद बगैर बिला भेद वाला प्रेम है वो बहुत सादी भाषा में समझाया दादा ने और इसी ढंग से ज्ञान में कुछ नहीं है उसको संसार में आगे जाना है तो बताया दादा ने कि माता पिता को खुश रख और गुरु को खुश रख माता पिता और गुरु उसको किसी ढंग से उसको दुख की छाया भी ना पहुँचे ऐसा तेरे को नहीं होना है हम्म, तो आज जो समाज में साधु अपना जैनों में भी लिया है ना तो मेरे व्यवहार के माता पिता वगैरह बोलते सही लेकिन उसका ख्याल दूर से भी रखते हैं वो लोग दूर से भी रखते हैं माहिर भगवान केवल ज्ञान थे और आखिर में जब देवनंदा माता जी आती है किसी को मालूम नहीं गणधर देवो इतना ऊंची स्केल पर है मालूम नहीं है कौन है कैसी आई और वो वैशाली में ही हुआ वैशाली में वो ब्राह्मण पाड़ा से क्षत्रिय पाड़ा में आते हैं ऋषभदेव तो उनका पतिदेव उत्कृष्ट ब्राह्मण उत्कृष्ट ब्राह्मण उस जमाने के देवनंदा उनकी धर्मपत्नी वो आती है और महावीर को देख के उन्हें भावना हो गई उन्हें बताया पतिदेव को मुझे ले जाओ भगवान आए दर्शन करना है तो ले गए जरूर तो दोनों गए दर्शन किया दर्शन किए ही उनको भाव उछलाया मातृभाव कौन सा बिना कनेक्शन मातृभाव आया कहाँ से लेकिन संसार में समाज में हमें दृष्टांत तो मिलते रहते हैं वो दृष्टांत सही नहीं है पुद्गल का कनेक्शन बिना मातृभाव आता ही नहीं तो महावीर भगवान को पुत्र मातृ का कैसा संबंध आ गया तो दूध की धारा उगधारा और ये सूक्ष्म बातें हैं लेकिन कथानुयोग में अलग से आती है और स्थूल रूप में आती है इसलिए स्थूल रूप में समझी जाती है हकीकत में उसका परमाद नहीं पकड़ पाता कोई अनुयोग जरूर है धर्म का पर परमाद नहीं पकड़ पाएंगे जिसको व्यवहार में कोई गम पड़ती नहीं और अपनी खुद गम पर बहुत बढ़ गई है उसको सब आगम का गम तो वो ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता पाएगा <laughs> खुद की गम सब ढंग से पड़ गई है अपनी गम यही बात है हुँ? हम्म? आगम शब्द बड़ा अच्छा है आगम तो एक परोक्ष शब्द है कि हाँ आ महीना आत्मा हम आत्मा है उसकी गम देने वाला ही शास्त्र है गम महीना समझ क्या सूझ सूझ देने वाला समझ तो ना समझ ऊंचा शब्द है सूज देने वाला हम्म, आगम तो सुनीता जी ये प्रेम हमें सब महात्माओं में है और आपका विकास होता ही जाता है आस्ते आस्ते आहिस्ते लेकिन हमारी भूमि कैसी है वो मरुभूमि में से थोड़ा सी कहाँ भी ओ ओएसिस वाला कल जल मिले हुए तो उसमें थोड़ा कुछ लगे ऐसा हुए तो अच्छा है तो इसीलिए चरण विधि है मेरी चरण विधि इसी कारण है अगर चरण विधि में दिक्कत आती है तो फाइल के पास से सत्साधन करवाओ तो फाइल अंदर से तैयार हो जाएगी अंदर से जो दादा भगवान के तैयार हो गया है उसको ज्ञान खुला हुआ वही हमें अंदर से होना है ये बात है बात ये है उस पर बहुत इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सत्साधन में सब कुछ है मेरी कोई क्या बताऊँ मैं क्षमता इतनी नहीं हो सकती कि उसमें पूरा ज्ञान बता सके मानते हैं कि शुद्धात्मा की प्रार्थना पर ऐसी बात नहीं है लेकिन कोई भी एक्सेप्ट कर लेंगे सारा विश्व में जाओ आप है कि नहीं कोई भी जगह जाओ वो हरकत नहीं है उसमें इसीलिए कल्याण मार्ग तो यही रहा है व्यवहार का कर अरे व्यवहार का कल्याण उसी को ही तीर्थंकर भगवंतों ने कल्याण मार्ग बताया और दादा भगवान उनका जो वो कक्षा का अनुभव पद है वो दादा भगवान ने बताया ये काल में सामान्य मनुष्यों में समझ आवे इस ढंग से क्या बताया नहीं नहीं क्या बताया बोलो क्या बताया बोल भगवान इसीलिए हमेशा प्रत्यक्ष मार्ग मिलता ही नहीं क्या प्रत्यक्षता भगवान के नहीं मिलती परोक्षता रहती है तो परोक्षता से प्रत्यक्षता प्राप्त करने का मार्ग आगम तो तो है क्योंकि अच्छे अच्छे उनकी बुद्धि जितनी सम्यक हुई इसके प्रकार से आगम तो आए अच्छे अच्छे आए बाकी बाकी व्यवहार में हमारे में आए ऐसा तो तो होता ही रहता है और व्यवहार में कभी भी सत्संग सभा में कोई भी प्रकार की हो तो सत्संग स्वभाव में उल्टा सुलटा कोई नहीं बोल पाएगा आप क्या मानते हो साहब बोलो ना एक शब्द उल्टाने का घड़ा <laughs> गड़बड़ तो लाठियाँ उछलेगी या तूफान हो जाएगा है इससे ऐसा नहीं समझ लेना शब्द तो ये प्रेम बहुत अच्छी शुद्ध प्रेम बात है शुद्ध प्रेम और संसार प्रेम उसको शुभाशुभ प्रेम बोलते हैं शुभाशुभ प्रेम वाला वो हो सकता है वो तो और दूसरा आपका अरे भाई तो टाइम तो हो गया थोड़ा ले लो हम्म? जल्दी में पता देंगे दादाजी ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम पड़ोस के साथ हाँ शुद्ध व्यवहार की सम्यक समझ समझाने की कृपा करे जिससे अंतकरण में जीवन जीवट सहित जीने की स्वमय समय साक्षी दिशा मिले समिता जी आप तो एक शब्द में वो माजी ने जिसको ने, नेत्र नेत्र नहीं थे और भगवान खुश को माग माग तुझे दे देता हूँ सब कुछ तो माँ जी ने नेत्र नहीं थे मांगा नेत्र तो नहीं मांगा लेकिन अब मंदिर बाबा आप बताओ क्या मांगा बोलो ने मुझे मालूम नहीं आता है वो तो अरे देव बोलो जल्दी जोर से बोलो बोलो ने भगवान खुश को माग मांग खुश हूँ तेरी भक्ति से सातवा मदले पर माजी भगवान पास नहीं हिंदी में बोलो माजी को नेत्र नहीं थे तो भगवान समझे कि वो नेत्र ही मांगेगी ने मा, माजी ने मांगा जोर से बोलो माँ जी ने मांगा के साथ में हवेली के साथ में हवेली के साथ में मजले पर मैं मेरे पुत्र वधु पुत्र वधु को सोने की मैं मेरी पुत्र वधु को सोने की गागर में सोने की गागर में गागर हाँ? सोने झालर में सोने के घड़े में हाँ, हाँ पानी पानी लेके हाँ, सोने के घड़े में गागर पानी लेके देखू पानी लेके लाते हुए देखो पानी लाते हुए देखो मैं दे ऐसा इतना मांगा तो आग नहीं मांगी उन्होंने इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि अपना यहाँ का कषायो है ने साथ साथ आराम से इजीली बिल्कुल सामान्य से सात पीढ़ी का बंद तो कर ही लेता है <laughs> सात पीढ़ी का एक ऐसा ऐसा है हुँ? हम्म? तो दादा महात्माओं को तो ऐसा नहीं एक के दो अवतार खत्म हो गया है लोगों को तो ये तो कषायो ऐसी वो अनंत अनुबंधी वाले करना करना आने वाले ऐसे वो तो नहीं तो नहीं है लेकिन उससे ऐसा नहीं बैठ बै, बैठ जाना चलो अच्छा एक दो ऐसा नहीं है जग, जगह दिए तो जागते रहो जगह दिया तो जागते रहो उसका मतलब है दादा ने ऐसा नहीं बताया कि आप सो नहीं जाना ब, किसी को बोला किसी को बोलो ने हाँ <laughs> तो ये बात आपने बताई पड़ोसी प्रथम पड़ोसी के साथ शुद्ध व्यवहार की तो प्रथम पड़ोसी के साथ शुद्ध व्यवहार हमारा बने वो हमेरा विनय तत्व खुलता खुलता जो प्रेम तत्व ही है उसमें हमारे हमारे खुद के लिए भी परम विनय होना वो हमें अंदर खुलता जाएगा खुद के मन वचन काय के साथ परम विनय होना इतना आसान नहीं है वो प्रेम विनय गुण खुलना भी इतना आसान नहीं है वो मतलब तो विकास होता ही जाता है वो प्रेम तत्व है प्रेम तत्व है और विनय तो सबसे बड़ी चीज़ है विनय किसको होता है जिसके पास दृष्टि है और दृष्टि मूलक सारा ज्ञान है क्या बताया दृष्टि से मूल्यवान किया हुआ सारा ज्ञान है कौन सा ज्ञान तो कि मैं खुद हूं और ये सब कौन है ये सब कौन है और आज मैं खुद जो नहीं वो खुद माना गया था वो तो सभी लोग मानते रहते हैं तो मैं नहीं हूं तो ये सब ऐसे कैसे नहीं है वो दोनों ढंग से उसको मालूम हो जाता है लेकिन क्यों मालूम होता है कि खुद ने समझ लिया खुद को इसीलिए इसीलिए समझा और इसीलिए व्यवहार में प्रथम पड़ोसी हमने बताया लेकिन ये तो बहुत कठिन आगे की बात है लेकिन महात्माओं को तो फाइलों का संभव निपटारा करने का ही बताया निकाल करने का फाइलों बताया क्योंकि व्यवहार सब लेके आए हम व्यवहार सुनीता जी तो आपकी तीनों बच्चियों में और आज एक जावाई आ गए हैं उनका परिवार आ गया है और आपका घर में आपके बहुत नज़दीक के आपके गुरुजी है वो उनके नज़दीक गुरुजी है क्या कौन है ललित कुमार जी हाँ वो साधु साधु बोलो ना साधु ढंग से <laughs> ललित चंद्र जी बोले है आपके गुरुजी है कि नहीं <laughs> क्यों सुनती है समझ में आया था कि नहीं नहीं हाँ ये समझना है शरीर की इतनी आदत पड़ गई है शरीर की हमें जो शरीर के समझने चाहते हैं उसमें गड़बड़ हो गई है सब ये कलयुग का शरीर है क्या करे क्या करे हुँ? हम्म? तो प्रथम पड़ोसी के साथ शुद्ध व्यवहार की बात और शुद्ध व्यवहार बताया तो शुद्ध व्यवहार उसमें अशुद्धि नहीं है ऐसा बात नहीं है लेकिन ये कलयुग में शुद्ध व्यवहार की जो मर्यादा है उसमें आप सुनीता जी जो है वो आपको तीनों बच्ची में ललित जी में सभी आपको ही आपको देख सके व्यवहार तो हर एक का शरीर अलग है उसका व्यवहार तो और आपको उनके साथ रहना है सबका शुद्ध अलग व्यवहार है और आप भी साथ में रहते हैं फिर भी व्यवहार में बने उसमें आपका व्यवहार आप, आपके साथ बनता है ऐसा बने तभी व्यवहार में शुद्धता आती जाती है अर्थात व्यवहार दृष्टि में शुद्धता आ जीता जाती है अर्थात व्यवहार दृष्टि हमारी इतनी निर्दोषिता आती जाती है निर्दोषिता बोलते हैं और जितनी जितनी निर्दोषिता हुई इतनी सभी नज़दीक में नज, खास नज़दीक घरने संबंधों में होता है वो वहाँ आपको कोई दूषित भाषित नहीं होगा और शरीर तो मनुष्य का स्वभाव है दोष वाला हम्म? मेरी श्रीमद जी ने बड़ा अच्छा बताया है स्वभाव से जो दोष वाला मनुष्य है उनके दोष प्रति दो उसको दोष स्वरूप से देखना वो अनुकंपा का त्याग करना बरोबर है ये बड़ा अच्छा वचन श्रीमद जी का है क्यों कि उनका भी दिल ऐसा ही था बचपन से ही वो आगे से आया है बचपन से ही और दादा भगवान यही था दादा भगवान का पूर्ण कुदरत स्वरूप से आए बहुत ढूंढते ढूंढते कहीं अवतार से ढूंढते आए तभी ये बहु में हुआ और हम ऐसे ढूंढते तो नहीं आए लेकिन सही कहीं सही सोच समझ से थोड़ा पुण्य स्टॉक रख गया था तो पुण्य का कोई चेक स्वीकार नहीं करता था कैश करने की बहुत इच्छा थी सबको लेकिन स्वीकार नहीं हुआ कई कई धर्मों में संतों में कहाँ कहीं कहाँ कहाँ नहीं गए लेकिन कोई स्वीकार करने वाला नहीं मिला और स्वीकार करना मिला तो आप रख जाओ ये ले जाओ लेकिन उधार माल दिया दादा भगवान ने दादा भगवान इज द डिवाइन શું કેશ બેંક શું કહ્યું is the cash bank of divine solution एक एक एक शब्द उनका कितना गंभीर अर्थ है परमार्थ है उसके पीछे हमने शब्द से ले लिए हैं ये बहुत समझनी जरूर है तो शुद्ध प्रेम ये शुद्ध व्यवहार हुआ महात्मा मात्र को हमेशा आहिस्ते आहिस्ते उसमें प्रगति होती ही रहती है प्रगति में ही है प्रोसेस में है सभी लोग इसीलिए लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है बहुत अच्छी भावना है हुँ? हम्म? तीसरा दादाजी मन मानस पर मान्यताओं की बंधन स्वरूप आवृत्त ग्रंथियों से कुदरती प्रवाहित होते होती नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के परिणाम स्वरूप निराश्रित प्रण के भ्रांत असर के सामने सनातन सिद्ध पुरुषार्थ का प्रयोग समझाने हेतु करो यही आज्ञा धर्म और आज्ञा धर्म ये, ये दो ही है पुरुषार्थ में तो वैसा तो पुरुषार्थ एक ही होता है लेकिन ये सारा व्यवहार मेरा मेरे साथ साथ में है आप तो पुत्र हो तो उसको पूछते हो तो वो बोलते हैं हाँ मेरा शरीर इतना व्यवहार तो है ही हमें का क्योंकि व्यवहार किसको बताया अंदर का जो व्यवहार है उसको सही ढंग से व्यवहार बताया और जो घर वाले हैं संसार में हैं उन्हीं को वो शरीर है बाहर से तो बात सबका संबंध है इसीलिए सबका व्यवहार बताया उन्होंने इसीलिए फाइलो शब्द रखा उन्होंने फाइलो फाइलो शब्द सभी को लागू होता है वो क्रम मार्ग में भी होता है और अक्रम दोनों में ही सरखी से क्रम मार्ग में तो एक व्यवस्था है कि भाई त्याग मार्ग और संसार मार्ग वो तो होना ही है नहीं तो तो ऋषभदेव समय में जो जंगली जंगली मनुष्य थे इस जंग का जम हो जाएगा हुँ? हम्म? तो अभी तो ऐसा नहीं है तो समय बड़ा अच्छा है हुँ? हम्म? तो उसमें आप जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं तो व्यवहार दृष्टि से मैं सुनीता हूँ उसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार के व्यवहार में नेगेटिव परिणाम व्यवहारों के हिसाब से तो आएगा फाइलों के हिसाब से फिर भी आपको अंतर इतना स्वाद आना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए न मुझे न घटे सुनीता तुझे न घटे सुनीता को बोलना आप तुझे न तुझे होना नहीं है जरूर तुझे नहीं होना चाहिए इतना बोल दो आप खत्म हो गई बात तो इतना नेगेटिव पढ़ना निर्जरता जाएगा और पॉजिटिवपना उसके प्रस्थापित होता जाएगा ये ये मार्ग है उसमें हुँ? हम्म? तो ये ज्ञाता ज्ञ तो बहुत बड़ा शब्द है साहचर्य बोलते हैं लेकिन हम ज्ञ के ज्ञाता रह नहीं पाते ना क्यों कि अभी दर्शन शक्ति खुली हुई है मेरी ज्ञान मिलते के पश्चात तो दर्शन शक्ति से हमारा ज्ञाता पद अनावरण होता जाता है आहिस्ते आहिस्ते क्योंकि दर्शन शक्ति खुद अनावरण होनी जरूर है दर्शन आवरण बोलते हैं उसको तो आंखों के बीच जो दर्शन आवरण होते हैं वो भी निकलने तो व्यवहार दृष्टि में उस दर्शन आवरण सब व्यवहार दृष्टि में है वो निकलते ही जो दर्शन में अंतर में मूर्त दर्शन के अंतराय है चारित्र मोहने के वो कमी होते जाते हैं मेरे क्या तो दर्शन शुद्धि होती है और जितने उनसे दर्शन शुद्धि सही ढंग से हुई सम्यक प्रकार से हुई इतना ही वो ज्ञान की शुद्धि उसका आवरण कम होते जाता है और ज्ञान स्थित हो जाता है और स्थित ज्ञान में सभी शक्ति साथ साथ होती है दर्शन शक्ति और व्यवहार शक्ति जिसको चारित्र बोलते हैं और उसको ही वितराग चारित्र बताया तो रत्नत्रय शब्द वहाँ लागू पड़ता है रत्नत्रय ज्ञान दर्शन चारित्र चारित्र शब्द जो जीवन ओ श्वास श्वास से मेरा दबकता हुआ चलता जाता है वहाँ चारित्र होना है चारित्र वहाँ होना है लेकिन इतनी सूक्ष्म साथ जाना आहिस्ते आहिस्ते बनता रहेगा लेकिन समझ समझ ले तो अच्छा रहता है हमें समझ ले तो अपना कर्म जो भर के लाए उसका तो उदय में आके तो स्वाद देने ही वाला है लेकिन समझ में जितना है इतना आपको बहुत आपको आसान से आगे बढ़ते जाएंगे जय सच्चिदानंद सुनीता जी जय आपके लिए पंद्रह मिनट ज़्यादा हो गई आज चलो सच्चिदानंद हिंदी का सत्संग पूरा हो गया सब आज दे अरे, आपको हा? अरे भाई एक थोड़ी बात दो मिनट एक बीस सेकंड दीपक भाई जैन जे आपने आपको माउंट आबू में मिले थे एक माउंट आबू अभी आप गए थे ना जब हाँ। दाढ़ी वाला आ, हाँ, आ, हाँ, वो सबसे आगे बैठता था आपने उसको आ, आगे बिठाया तो उनका दादाजी आपको मिलने के बाद हर एक वीक में दस दिन में एक बार ही फ़ोन आता है मीनल पे और वो हमसे कहते हैं कि दादाजी की बातें करो तो हम हम हमें जितनी समझ आती है जो भी आता है हम बात करते हैं तो वो कहते थे कि हमारा दादाजी को आप प्रणाम देना और दादाजी से कहना कि आपकी ऊर्जा हमें मिलती रहती है उनको ये लगा कि आपको मिलने के बाद उनको ये लगा कि ये क्या हो गया वो यही सोचते रहते हैं और उनकी इस तरह से उन्होंने मुझसे तो कहा तो मुझे था कि माउंट आबू में मिले थे हाँ। लेकिन उनको मालूम नहीं कि मैं मुझे मिला था <laughs> उनको मालूम नहीं है हाँ। हमें तो मैं देखते ही मालूम हो जाता है नहीं समझे हाँ समझ गए दादाजी पीछे कहाँ भी हो जो नहीं मिले उसको भी मेरा अनुभव आता है समझ कहीं बड़े बड़े लोगों को समझ गए खाली सुना है समझ में आता ऐसा ही ले समझे उसमें क्या मेरा बड़प्पन हो गया भाई हाँ छोटेपन बिना हो बड़प्पन नहीं आता बिहारी जैसी ना बात है ना ऐसी तो आज एक थोड़ा दो दो मिनट दे लूँ हाँ, ये हमें दीपकानंद जी ने दिया है कि कविराज की क्या कौन सी भा सेवन सातवा सेट है कविराज का पद और उनकी उनसे ही समझ पाई हुई सारी मिक्सचर है कविराज भी समझाते हैं और हम भी समझाते हैं ऐसी सातवें सातवां पाठ है कविराज पद समझ वो डीवीडी नंबर एक है और डीवीडी नंबर दो है उसके लिए हमेरा एक थोड़ा आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा वचन जरूर है तो बोलेंगे करो महात्माओं दादा भगवान ने जैसे ही कविराज के पद प्रथम उनके सुनने में आए कविराज से खुद से और कविराज कविराज का गला तो कविराज का है गायक है और उनसे उनकी रचनाएं सुनने में आई खुश हो गए दादाजी तो बनती गई बनती गई आई गई और दादाजी बोले अरे ये कविराज ने मुझे कैसा बताया है ओ वो तो अभी ऐसा मुझे हो जाना पड़ेगा ऐसा दादा भगवान ने बताया जो कविराज ने बताया ऐसा मुझे हो जाना पड़ेगा <laughs> उनका लघुत्तम पद नहीं बताया तो क्या बताता है लघुत्तम भाव है ना व्यवहार दृष्टि में कौरव की दृष्टि में जो दादा भगवान अलग है और दादा भगवान की दृष्टि कैसी है ये व्यवहार दृष्टि और शुद्ध व्यवहार दृष्टि बोली जाती है हुँ? हम्म? और दादा भगवान ने समझाया कि हमें हमेरी दृष्टि निर्दोष करके जगत को निर्दोष देखा क्या बताया हमें हमारी दृष्टि निर्दोष करके जगत को निर्दोष निहाड़ा सभी जगह हम कितने नज़दीक सब कुछ है कोई भी कोई भी उनके कुटुंब हो व्यवहार हो कोई भी हो कहाँ भी हो सबको मेरे ख्याल से मंदरबा का अनुभव ऐसा होगा आपको क्या है आपके क्या आपको ज़्यादा करते थे बोलो आपका अनुभव क्या है निर्दोष आपको निर्दोष देखा होगा दादा ने बोलो ने दादाजी की दृष्टि से मैं कहाँ हाँ? दादाजी की तो बात ही और है ना ऐसे कहीं बोले जाते हैं हाँ <laughs> नहीं नहीं आपको कैसा देखा आपको आपने दादा की सेवा बहुत की है हाँ, हमने देखा ना क्या देखा आपको निर्दोष वाले देखा निर्दोष देखा निर्दोष देखा हाँ? निर्दोष देखा हाँ। व्यवहार में उसको बोलते बताते कि कनुभव के साथ व्यवहार करना था इस ढंग से करना बच्चों के साथ इस ढंग से व्यवहार करना ऐसा बता देते हैं सही मनुष्य होते हैं मनुष्य मनुष्य को सही जो समझ में उसके आए कि सहीपन है वो बतावे नहीं तो कैसा मनुष्य हम्म वो तो है ना जिसको दादा गुजराती में सच्ची सलाह जो जिसको कोई आता है नज़दीक आता है तो इतनी तो सच्ची सलाह तो देनी चाहिए ना सत्य बिना नेगेटिव पड़ा नहीं होना चाहिए उसको इसलिए तो सबको मनुष्य को इतना तो है आज इतना कहा बिल्कुल बेकार नहीं गए दिवाला बहुत निकाला है नहीं इतना तो नहीं है ऐसा है कि नहीं તો કવિરાજ महात्माओं અને सुग्नजनों और और सभी लोग सारा विश्व में ये कविराज की रचनाएं हैं जो और ये सातवां पार्ट उसका वो खुद समझाते हैं उस पदों को और साथ साथ में हम भी समझाते रहते हैं उसकी डीवीडी वन नंबर एक और दे स्वरूप में अभी प्र, प्रकाशित हो रही है उनके लिए ये दादा भगवान के वचनों के अनुसार ये विश्व को मिलेगा तो कविराज अभी आपको तो उसकी कीमत नहीं आएगी किसी को दो पच, पाँच पचास साल में भी नहीं आएगी लेकिन आज के पचास सौ दो सौ साल में लोग ये पद में जाएंगे किसी के साथ तब उस जुड़ने के कितना बड़ा कवि हो फिर भी उसके पास जाएगा बोलेगा अरे क्या पद है ये तो ये तो आखिर का है ये लोग उसमें रिसर्च करेंगे तो आज इस ढंग से थोड़ा हमें भी दिल में आया कि कविराज इतनी हमने सब सारा संघ पर इतना कितना बड़ा उपकार है उनका तो ये रिसर्च में उसका ये पार्ट बनाया कदों पदों का तो आज कितना साल से चलता है जितेंद्र भाई तीन साल से तो चलता रहा है और सुरेश भाई और सब जित जीतू भाई वगैरह की टीम होके कविराज हम साथ में रहते हैं कभी आपता पुत्र भी रहते हैं तो ये सब निकलता जाता है वो रिसर्च सेंटर में बना है तो बोलता है 200 सर के बाद रिसर्च करेंगे तो इससे अपने जो मात, महात्मा को जो है तो सूचन बेचते जाते हैं कोई बात नहीं उसमें किसी की कोई बात नहीं नहीं होता व्यवहार में ये अक्रम मार्ग ही ऐसा है अक्रम मार्ग हुँ? हम्म? तो ये सातवीं डिवीजन वाली डीवीडी दो आपकी कविराज आती है आज सबके समक्ष उसके लिए मेरा खूब आपको अभिनंदन है और मेरा सभी को सही ढंग से अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में संसार में और त्याग मार्ग में सभी को सही समझ उससे प्रकाशित होती रहे उसके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद है और ऐसे ही ये रचनाएँ और समझ और रिसर्च में उसमें बनती रहे तो आगे जो करना है जिसको रिसर्च उसको उसका अवकाश मिलेगा उनको सही ढंग से एक एक पद लेंगे उसके ऊपर से कहीं कहीं क्या क्या दूर निकालेंगे ऐसे बहुत लोग हैं आज तो તો મેરા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ હે જય સચ્ચિદાનંદ ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ હવે પછીનો દાદાજીનો સત્સંગ સર્વ મહાત્માઓને વોટ્સએપ એસએમએસથી જણાવવામાં આવશે ના ના એવું નહીં બોલો સોમવાર ગુરુવાર સત્સંગ ચાલુ જ છે આ બધા મહાત્માઓને ખબર પડી ગઈ છે એટલે દાદાજી શબ્દ આવું ના બોલો હવે કારણ કે આપણે બધા એક જ છીએ અને આપતા પુત્રો છે એટલે મહેરબાની કરીને આવી ભૂલ નહીં કરો હવે ઓકે દાદાજી હા હા દાદાએ કહ્યું હતું કે હવે શરીર કેટલું મારું કરે તમે આવો જોડે હવે ઉંમર થાય શરીરને કેટલું એને ખેંચ ખેંચ કર્યા કરે આવું કહ્યું જ છે એમને એટલે આ વાત પકડી લેવી પડશે આપણે ચોક્કસ એટલા માટે બધા મળીએ છીએ બુધવારે બહેનો મળે છે શાના માટે મળે છે બધા એટલા હા ચાલો એટલે સત્સંગ ચાલુ જ રહેશે હા અમારી સ્થિતિ ના સ્થિતિ જોવાની નથી એવું કંઈ બોલાતું હોય આપણાથી ના બોલાય એવું શું આપતા પુત્રો સત્સંગો તમે નહીં આવો લે તમે બે જણા અમદાવાદથી <laughs> વિચાર વિચારમાં પડી જાય છે શું આવવું જ જોઈએ દાદાજી પણ આપ પુત્ર સવાલ તો સહેલો છે આપણને સંબંધ અઘરી પડે છે હા ચાલો કંઈ વાંધો નહીં એટલે ગુરુવારે આપતા પુત્રો સત્સંગ કરશે ગુરુવારે અમારો સંયોગ નથી અહીંનો કદાચ અત્યારે અત્યારે દર્શનમાં દેખાય છે બરોબર કારણ કે દર્શનમાં બીજી ક્ષણ સુધી તે કોઈ કહી શકે એવું નથી એવું નહીં એટલા માટે કહીએ છીએ જય સચિદાનંદ આજના દિવસના પ્રસાદીના નિમંત્રકો છે હેતલબેન યોગેશભાઈ શુક્લા બર્થડે નિમિત્તે અમદાવાદ ગુરુવારે તો સત્સંગ બંધ ચાલુ છે ના દાદી આ ગુરુવારે રવા દઈએ આ ગુરુ આ ગુરુવાર તો રાખીએ બંધ રાખીશું જરા કારણ કે અમારે થોડુંક બીજા કારણોથી દાદી જવાનું છે જય જય સચિદાન આ ગુરુવારનો આપણે બંધ રાખીએ છીએ પાછા આવતા સોમવારનો ગુરુ ચાલશે સોમવારે હિન્દી અને ગુરુવારે ગુજરાતી ચાલશે જે આપતા પુત્રો છે એનો સત્સંગ ચાલશે અહીંયા આગળ આ એ વડોદરા ક્ષેત્રે ઓકે દાદાજી હોય છે જ બધું મહેન્દ્રભાઈ પડાયા મુંબઈ કાળુભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ સુરત હર્ષ સંજયભાઈ મારું એમનો છોકરો એચએસસીમાં એટી સિક્સ પર્સન્ટેજ લાવ્યા છે રમાબેન સુરેશભાઈ ખરે માનસી મહેશભાઈ પટેલ એના ટ્વેલ્થમાં એટી સેવન પર્સન્ટેજ આવ્યા છે જાગૃતિબેન નરેશભાઈ મહેતા મુંબઈ અને દીપેશ રાખીબેન ઠક્કર એના ટ્વેલ્થમાં એટી થ્રી પર્સન્ટેજ આવ્યા છે બુધવારનો અને ગુરુવારનો બહેનોનો સત્સંગ અને રેગ્યુલર સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ બાબુ કાકાના હોલમાં રહેશે શનિવારની પ્રાતવિધિ આ વખતે દાદા અલય ખાતે છે અને રવિવારે સવારના સાતથી સાડા આઠ સામાયિકનો પ્રયોગ મહાત્મા ત્રણુબહેના નિવાસસ્થાને રાખવામાં આવ્યો છે જય સચ્ચિદાનંદ ચાલો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना